हाँ, हाँ बच्चे भी आए हैं अंदर ले आओ उन्हें हाँ हाँ, हाँ क्यों नहीं बुराई हो अरे चलो चलो नमस्ते पोस्ट मास्टर अंकल नमस्ते नमस्ते मैडम मैडम वो खिड़की के पीछे लोग बैठे हैं और हाँ, हाँ हाँ अरे वाह वाह भाई बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये अच्छा बच्चों ये बताओ आप लोग किस स्कूल से आए हैं जी आदर्श विद्यालय से आदर्श विद्यालय कहाँ है ये आपके डाकघर के पीछे जो सड़क है हाँ जी वहीं पे है अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा। दाएं मुड़कर वो बोर्ड लगा हुआ है आदर्श विद्यालय रामनगर नई दिल्ली हम्म। और pin code number pin code नहीं देखा है हाँ अरे बच्चों हमारे डाकघर के बाहर भी एक बोर्ड लगा हुआ है है ना आपने उसे पढ़ा उस पर क्या लिखा है जी क्या लिखा उस पर बताओ भारतीय डाकघर रामनगर नई दिल्ली और pin code number pin code number यहाँ भी नहीं पढ़ा जी आपने पिन कोड नंबर पढ़ा ही नहीं जी पिन कोड तो वो क्या हाँ, होता है कोड अब वो तो हमें पता ही नहीं क्या होता है बच्चों हर शहर का एक पिन कोड होता है अच्छा पिन कोड यानी के पोस्टल इंडेक्स कोड हम्म? हाँ। और हर शहर के अंदर भी हर जगह का एक अलग पिन कोड होता है एक अलग नंबर होता है हम्म? और जब भी हम कभी चिट्ठी लिखते हैं ना तो हमें पिन कोड लिखना नहीं भूलना चाहिए हम्म। पिन कोड जरूर लिखना चाहिए क्योंकि इससे पत्रों को छांटने में मदद मिलती है और पत्र जल्दी पहुंचते हैं और समय बचता है समय बचता है अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बताऊं जैसे कि तुम्हारा स्कूल या हमारा ये जो डाकघर है जी ये रामनगर में है ना जी तो हमारे यहाँ का पिन कोड नंबर हुआ एक एक शून्य शून्य पांच पांच अच्छा। यानी कि यहाँ का पिन कोड है पचपन और जैसे चांदनी चौक है तो हाँ। तो चांदनी चौक का पिन कोड हुआ एक एक शून्य शून्य शून्य छ इस तरह अच्छा। हर एरिया के अलग अलग पिन कोड होते हैं जिनसे हमें पत्र पहुंचाने में बहुत सहायता मिलती है हम्म। समझे अच्छा। चलो अब तो और आगे ले चलते हैं हाँ, वो देखो वहाँ क्या हो रहा है क्या लिखना है किसका पता लिखना है और हाँ। हम्म, देखो देखो देखो ये है हमारे डाक बाबू नमस्कार oh, नमस्ते बच्चों को पोस्ट कार्ड और हाँ, हाँ। लिफाफे के बारे में बताइए जरूर जरूर जरूर <laughs> देखो बेटे ध्यान से ये होता है पोस्ट कार्ड देखा इसके ऊपर आप चिट्ठी लिखते हैं बहुत बार देखा होगा तुमने हाँ, हाँ यही है पोस्ट अच्छा। कार्ड और अब ये होता है अंतरदेशीय पत्र जिसे इनलैंड लेटर भी कहते हैं और ये जो अंतरदेशीय पत्र है ना इसके अंदर कुछ नहीं डालना हम्म, चाहिए बिल्कुल बस बिल्कुल। इसी के ऊपर पत्र लिख के और जहाँ ये पता लिखने की जगह बनी है ना ये ये हाँ, वाली हाँ, यहाँ पर पता लिख के इसे भेजते हैं और इसमें अच्छा, भेजने वाले का पता भी होना चाहिए हम्म। उसका भी पिन कोड और अपना पिन कोड भी और जहां आप पत्र भेज रहे हैं वहां का पिन कोड भी लिखना हाँ, चाहिए बिल्कुल ठीक अच्छा अंकल वो जो उस लिफाफे पर हवाई जहाज बना हुआ है हाँ, हाँ, बेटे वो विदेशों में जो पत्र जाते हैं ना जी उनके ऊपर वो हवाई जहाज की तस्वीर बनी होती है तो वो अच्छा। विदेशों में भेजने के लिए वो पहचान है उसकी अच्छा। समझ गए और एक ये जो हमारे स्थानीय हमारे देश के अंदर जो लिफाफा जाता है ना वो ये है देखा बेटा हाँ, देखो मुझे हाँ, इस पे भी देखो ये पिन कोड लिखने की हाँ। जगह बनी हुई और ये मोहर लगी हुई है हाँ। इसके ऊपर है ना ये ये स्टैम्प है इसकी ये ये देखो मोनू तुम भी देखो हाँ देखो बेटे और बच्चों एक बात का ध्यान रखना चाहिए इस लिफाफे के अंदर सिवाय पत्र के और कुछ नहीं डालना आ, हाँ, चाहिए बिल्कुल ठीक आप मास्टर साहब बिल्कुल हाँ, ठीक हाँ, समझ गए बच्चों जी जी, तो जी। अरे मैडम मैडम हम्म। वो देखिए वो आदमी तो <laughs> मनी ऑर्डर है वो बेटा इसे कहते हैं मनी ऑर्डर अच्छा। मालूम है मनी ऑर्डर क्या होता है Um, ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ये है एक <laughs> राम बाबू जरा बच्चों को समझाइए ना कुछ हाँ, हाँ, हाँ आओ बच्चों आओ इधर आओ अच्छा। जी ये देखो ये मनी ऑर्डर का फॉर्म है अच्छा। इस पर अपना पता और जिसको पैसे भेज रहे हैं आप उसका पता साफ साफ लिखना नहीं भूलना चाहिए हाँ। ये देखिए पहले इसको फॉर्म को अच्छी तरह देखो ये देखो बेटा यहाँ हाँ। ऊपर लिखा हुआ है ये जिसको आपने रुपए भेजने हैं ना जी यहाँ पे उसका पता लिखना चाहिए अच्छा। और ये इधर लिखा है भेजने वाले का नाम और पता है ना यहाँ अपना नाम लिखिए अपना पता लिखिए हाँ। और अपना पिन कोड भी लिखिए अच्छा अंकल अच्छा। इसमें कितने भी रूपए भेज सकते हैं नहीं बेटा इसमें हम सिर्फ एक फॉर्म पर दो हजार रूपए ऐसी ज्यादा नहीं भेज सकते अच्छा मैडम कपड़ों में किताबें सिल रहा है वो आदमी हाँ कपड़ों में किताबें सिल रहे हैं आइए आपको उनसे मिलवाते हैं हाँ, अच्छा, अच्छा, बच्चा हैं जरा इन्हें पार्सल के बारे में बताइए हाँ, आओ हाँ, देखो बच्चों ये किताबें जो हैं इन्हें हम इस कपड़े में सिल रहे हैं इसे कहते हैं पार्सल बना रहे हैं हम्म। अभी तो- सफेद कपड़े में इन किताबों को बंद करेंगे हम्म। फिर ऊपर से इसको सिएंगे और फिर इसके आगे पीछे भेजने वाले का पता और और जिसको ये भेजना है उसका पता और लिखा जाएगा पिन कोड हाँ, नंबर पिन कोड नंबर ये जरूर याद रखना और बेटा जी ये जो पार्सल है ना जी इस पर वजन के हिसाब से टिकटें भी लगानी पड़ती है हाँ, हाँ। अच्छा। टिकट लगानी पड़ती है और एक बात और जी इसको रजिस्ट्री से भी भेजते हैं बल्कि रजिस्ट्री से भेजना ज्यादा अच्छा रहता है अच्छा तो ये रजिस्ट्री क्या होता है अंकल रजिस्ट्री मैं बताता हूँ देखो ऐसा होता है कि अगर जैसे कि मैंने कोई किताब या कोई चीज आपके नाम भेजनी है है ना तो अगर मैं रजिस्ट्री करा के भेजूंगा तो वो चीज आप ही को मिलेगी और जो डाकिया अच्छा। इसको लेके जाता है ना जी वो आपके दस्खत भी लेगा उस पर ताकि ये पता लग जाए कि उसी आदमी के पास वो चीज पहुंच गई अच्छा तो पार्सल के अलावा कोई बहुत जरूरी चिट्ठी हो ना उसे भी हम रजिस्ट्री करा के उसे भी रजिस्ट्री करा सकते हैं अच्छा। ताकि वो चिट्ठी उसी के पास पहुंचे जिसके नाम भेजी गई है अच्छा, ठीक है जी हाँ। अच्छा अंकल ये वो हर चिट्ठी पर ठक ठक क्यों मार रहे हैं <laughs> बेटा ये मोहर लगा रहे हैं चिट्ठियों पर अंकल क्या मोहर लगाना जरूरी होता है हाँ, हाँ बेटा हाँ, मोहर लगाना बहुत जरूरी होता है और वो क्यों अंकल देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ जैसे तुमने यहाँ दिल्ली से किसी को लखनऊ में चिट्ठी भेजनी है जी है ना तो जब तुम दिल्ली से चिट्ठी भेजोगे तो वो पहले डाकघर में जाएगी हाँ। तो यहाँ के डाकघर वाले अपनी मोहर लगाएंगे अपनी तारीख और समय लिखेंगे उसके ऊपर अच्छा, है ना उस तरह से जब वो चिट्ठी लखनऊ पहुंच जाएगी तो लखनऊ के डाकघर वाले भी उस दिन की तारीख की मोहर लगाएंगे उस पर और तुमने कभी एक बात गौर की है कि मोहर जो है वो डाक टिकट के ऊपर लगाई जाती है मालूम है क्यों वो क्यों वो इसलिए ताकि उस डाक टिकट को दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके अच्छा समझे समझ आ गया बेटा आप लोगों को सबको हाँ? अच्छा कुछ और पूछना है आपने इनसे कुछ कुछ आज तो बहुत कुछ हाँ, अच्छा अच्छा बड़े समझदार बच्चे तो चले फिर अब अच्छा आपको बहुत बहुत धन्यवाद चलें डाकघर अभी आप सुन रहे थे C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम कलाकार मंजू मैनी राम मैनी सुरेंद्र सेठी अभय भार्गव एवं वीना होरा बाल कलाकार आशीष आरती एवं पल्लवी ध्वनियांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना रिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा Thank you.